सिलिशिया जो है ये पत्थर से बनती है ये भी ऐसे दस दस मिनट से दो दो ट्रेन जीप पर हम्म? हाँ हाँ पांच एम एल लेना लिक्विड में वैसे इसके बहुत चमत्कार है अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना प्रमोद महाजन को गोली मारी थी और गोली उसके पेट में फंसी हुई थी सब डॉक्टर इलाज करके परेशान हुए गोली नहीं निकली लंदन से भी डॉक्टर आया तो भी गोली नहीं निकली और इन लोगों ने पंद्रह दिन उसी में निकाल दिया फिर अंत में लंदन के डॉक्टर ने कहा ये तो होम्योपैथी की औषध से ही निकलेगी तो प्रमोद महाजन को यही औषध दिया था सिलिशिया तो गोली तो निकल गई लेकिन उतनी देर में जान भी निकल गई उसकी अगर ये पहले दिन उसको दे देते तो वो बच जाता अच्छा, नहीं मैंने उदाहरण दिया अच्छा बुरा तो अब दूर की बात है हाँ और दूसरा माहिती देता हूँ कि जब कारगिल युद्ध हुआ था ना तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं आर्मी में डॉक्टर है दिल्ली में काम करते हैं रेफरल हॉस्पिटल आर्मी का तो 580 सैनिक अपने शहीद हुए थे और करीब 1600 सैनिक जख्मी हुए थे जिनको गोलियां लगी थी शरीर के अलग अलग हिस्सों में किसी को यहां लगी किसी को यहां लगी ऑपरेशन नहीं कर सकते थे पीठ में लगी तो उन्होंने मुझसे यही दवा मांगी थी तो मैंने उनको कहा कि आप सबको जीप पे दो दो थेम डालो दस दस मिनट से तीन बार डालो तो जितने सैनिकों को उन्होंने डाला चौबीस तास में सबकी गोलियां निकल के बाहर आ गई ऑटोमेटिक बिना ऑपरेशन ये काम ये करती है कि शरीर को जिस चीज की जरूरत नहीं ऐसी कोई भी चीज घुस जाए तो उसको बाहर फेंक देती है ये औषध कांटा लगेगा तो कांटे को बाहर फेंक देती है बिच्छू का डंक लगा तो डंक को बाहर फेंक देती है पत्थर लगा तो पत्थर को बाहर निकाल देती है गोली लगी तो गोली को बाहर निकाल देती है कुछ साइड इफेक्ट है जो शरीर को जरूरी नहीं वो अगर जरूरी है तो फिर नहीं फेंकते जैसे कांटा है कांटा तो जरूरी नहीं है शरीर को और घुस गया तो ये औषध ले लो बराबर बाहर निकल आता है और 10 मिनट में ही निकल आता है हाँ अभी आप लगा लो दो तीन लोग कांटे मेरे पास ये औषध है मैं अभी दिखाता हूँ हाँ वो भी निकाल कई बार बच्चे गोली खा जाते ना कंचा वो भी निकाल देती है वो आधे घंटे में निकलता है वो संडास के रास्ते पैसे खाते हैं वो भी इसी से निकलता है गले में पैसे फंस गए ये औषध दे दो वो नीचे संडास के रास्ते वही दो सौ ये बहुत काम की औषध है बहुत चमत्कारी है बहुत काम की और कई बार ऐसा हो जाता है ना कोई ऐसा रोग हो जाए बहुत खराब जैसे काजल तो काजल रोग में कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि संडास फंस जाती है रक्तम में निकलती नहीं है उसकी भी यही औषध है फंदा फंस जाए किसी कारण से खूब जोर लगाओ निकलती नहीं तो ये औषध का एक ही थेम ले लो फट से निकल जाते और एच आई